बिल पहि बेकल भरत दो भाए कौशल्यालिए हृदय लगाए भाती अनेक भरत समझाए कहि विवेकमय बचन सुनाए भरत सकल समुझाए कहे पुराण सुते कथा सुहाए छल विहीन सुचे सरल सुबाने बोले भरत जुग पानी भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले जय यघ मातु पिता सुत मारे गाय गोठ महे सुरपुर जारे जय तिय बाक बध की मित महे पति महुरी हे जे पातक उप पातकयहहि करम भव कवि कहि ते पातक मोहि होहु विधाता माता जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं जिनको कवि लोग कहते हैं हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे जय परि हरे हरे हर चरण भज ही भूत गण घोर तहि कई गति मोहि देव विधे जो जननी मत मोर जो लोग हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भसते हैं हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे धर्म दुषले ही सुन पराय पाप दे ही। कलह कपटि कुटल कलहप्रिय क्रोधिदोषक विरोधी लोभिम् पट कहीं पर धनु पर दारा पावो मैं तीन कै गति घोरा जो जनने यहो सम्मत मोरा जो लोग वेदों को बेचते हैं धर्म को दुह लेते हैं चुगलखोर हैं दूसरों के पापों को कह देते हैं जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं जो पराए धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं हे जन्ने यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं जे नहीं साधो संग अनुरागे परमारथ पथ विमुखय भागे जन भजहि हरे नर तनुपा न हरि हर सुजसु सुहाय तजि सुति पथु वलहि वञ्चकबीरचे देश जग छलही कै गति मोहि शंकर देव जनने जयहु जानव भेवो जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं जो मनुष्य शरीर पाकर श्रीहरि का भजन नहीं करते जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे मातु भरत के बचन सुने साचे सरल सुभाय कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन का माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो